यहां तक कि एक दिन जब ये सब चींटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा चींटियों अपने घरों में घुस जाओ कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें पीस डाले और उन्हें पता भी ना चले